बीस आठवीं अगर इब्न एडम की मौत हो जाती है तो इसका काम तीनों के अलावा मुनकते हो जाता है एक शाही खैराती इदारा आ ऐसी साइंस जो उसके लिए फ़ायदा मंद है आ एक अच्छा लड़का जो इसे फ़ोन करता है